सूरदास विरह पदावली गोपी विरह वर्णन अब हूँ कहाँ करूँ रे माई अब हूँ कहाँ करूँ रे माई नंदन नंदन देखे बिन सजनी पल भर रहो न जाई अब हूँ कहा करो री माई घर के मात पिता सब त्रासत यह कुल लाजल जल जाई महा करो रे माई बाहर के सब लोग हसत है बाहर के सब लोग हसत है सनेहिनी करो माई सदा रहत चित चाक चढ़ो सो सदा रहत चित चाक चढ़ो सो गृह अंगनान सुहाई सुरदास गिरी फरन लाड़िले हस कर कंठ लगाए हस कर कंठ लगाए सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी अब मैं क्या करूं सखी नंद नंदन को देखे बिना मुझसे क्षण भर भी रहा नहीं जाता माता पिता के साथ अन्य घर के सब डांटते हैं कि तूने स्कूल की मर्यादा को मटिया मेट कर दिया और बाहर के लोग मुझ पर यह कहकर हंसते हैं मेरी हंसी करते हैं कि यह कन्हैया की प्रेमिका आई किंतु मेरा चित्त तो सदा कुम्हार के चाक पर चढ़ा जैसा घूमता रहता है उसे न घर अच्छा लगता न आंगन क्योंकि प्यारे गिरधारी लाल ने हंसकर मुझे गले से लगाया था इह बिरिया बन तय ब्रजयावत इह बिरिया बन तय ब्रजयावत दूर तय वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावत कबहुक काहू भाति चतुर चित अति ऊचे सुर गावत कबहु कल नाम मनोहर धौरी धेनु बुलावत ए विधि वचन सुनय श्याम भन विधि बचन सुनाय श्याम घन मूर्छे मदन जगावत इह बनते ब्रजयावत आगम सुख उपचार बिरह जो बासर अंतन सावत इह बिरिया बनते ब्रजयावत रुचि रुचि प्रेम प्यासे नैननी रुचि रुचि प्रेम प्यासे नैननी क्रम कमम बल ही बढ़ावत क्रम क्रम बल ही बढ़ावत सूर सकल रस निधि सुंदर घन आनन प्रगट करावत सूर सकल रस निधि सुंदर घन आनंद प्रगट करावत सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी इस समय ही मोहन वन से ब्रज आते थे दूर से ही वे ओठों पर वंशी रखकर बार बार बजाते थे वे चतुर हृदय कभी किसी प्रकार अत्यंत ऊंचे स्वर से गाते और कभी सुंदर नाम ले लेकर धौरी उजली गाय को बुलाते थे इस प्रकार घनश्याम अपनी वाणी सुनाकर हमारे मूर्छित सुप्त काम को जगाते तथा दिन के अंत में वे अपने आगमन सुख रूपी उपचार औसत से विरह के ज्वर को नष्ट करते थे ये घन के समान सुंदर तथा संपूर्ण रसों की निधि धीरे धीरे प्रेम के प्यासे नेत्रों में सुरुचि उत्पन्न करके उनके बल को बढ़ाते और आनंद प्रकट कराते आते थे मोहन जाय दिन बनहि न जात मोहन जा दिन बनहि न जात मोहन जा दिन बनहि न जात ता दिन पशु पक्षी द्रुम बेली बिन देखे यकुलात देखत रूप निधान नयन भरी देखत रूप निधान नयन भरी ताते नहीं अघात ते मृगतीन नहीं चरत उदर भरी ते मृगत्रीन नहीं चरत उदर भरी भय रहत कृष घात जय मुरली धुनि सुनत श्रवण भरी ते मुख फल नहीं खात ते मुख फल नहीं खात ते खग विपिन अधीर की रपिकर दौलत है बिललात जिन बेलिन पर सत कर पल्लव जिन बेलिन पर सत कर पल्लव अति अनुराग चात ते सब सुखी परति बिटप हुए जीरन से द्रुम पात अति अधीर सब विरह शिथिल सुनी अति अधीर सब विरह शिथिल सुनी तन की दशा हिरात तन की साहिरात सूरदास सूरजदास मदन मन मोहन बिनु जुग सम पल हम जात जुग सम पल हम जात सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी सुन मोहन जिस दिन वन में नहीं जाते थे उस दिन उन्हें देखे बिना वन के पशु पक्षी तथा वृक्ष लताएं भी व्याकुल हो जाती थी वे उन सौंदर्य निधान को भर नेत्र देखते थे फिर भी देखकर कभी तृप्त नहीं होते थे अब वे ही वन के हिरण पेट भर घास नहीं चरते अतः उनके शरीर दुर्बल बने रहते हैं जो पक्षी पहले कान भरकर वंशी ध्वनि सुना करते थे अब वे मुख से फल नहीं खाते और तोते एवं कोकिल आदि पक्षी अब धैर्यहीन होकर वन में क्रंदन करते घूमते हैं श्याम सुंदर के पल्लव समान हाथों से छूने पर जिन लताओं से अत्यंत अनुराग के कारण रस टपकता था वे ही वृक्षों से सूख कर जीर्ण हुई गिरी जा रही है क्योंकि वे सब अत्यंत अधीर और वियोग से शिथिल हैं उनकी यह दशा सुनकर मुझे अपने शरीर की दशा भूल जाती है मदन मोहन के बिना हमारा एक एक क्षण युग के समान बीतता है ते गुण बिरत नहीं उरते ते गुण बिसरत नहीं उरते जे ब्रजनाथ किए सुन सजनी सोच कहती हो मेघ मेघकोऽपि व्रजबर्शन आयो त्रास भयो सुर बिहवल विकल जाति नंद नंदन करज धरो गिर तुरतय ते गुण बिसरत नहीं एक समय बन माझ मनोहर जामरन्नी रज जुरते एक समय बन माझ मनोहर जामरन रज जुरते पत्र भंग सुन संक श्याम घन पत्र भंग सुन संक श्याम घन सन दई कर दूर दैत्य महाबल बहुत पठाए दैत्य महाबल बहुत पठाए कंस बलि मधुपुर तैन सूरदास प्रभु सब बधेरन सूरदास प्रभु सब बधेरन कुछ नहीं सरयो आसुर कुछ नहीं कुछ नहीं सरयो असुर सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी सुनो ब्रजनाथ के वे उपकार जो कृपा पूर्वक उन्होंने हम पर किए हृदय से ओझल नहीं होते उन्हें सोचकर प्रारंभ से कह रही हूँ क्रोध करके मेघ ब्रज पर वर्षा करने आए अतः देवराज इंद्र के कारण हम खतरे में पड़ गए उस समय नंदनंदन ने हम सबको व्याकुल समझकर तुरंत गिर गोवर्धन को नख पर उठा लिया एक दिन चित्ताकर्षक वन में हम सब रात के समय जुटी हुई थी उस समय वहां धूल उड़ने लगी और पत्ते टूटने लगे अतः उन टूटते हुए पत्तों का शब्द सुनकर और हमें संकेत देकर घनश्याम ने हाथ के इशारे से ही उस आंधी को दूर कर दिया बलवान कंस ने मथुरा से बहुत से अत्यंत बलवान दैत्य व्रज भेजे किंतु हमारे स्वामी ने युद्ध में उन सबको मार दिया असुर कंस से कुछ भी करते नहीं बन पड़ा इतने जतन काहे को किए इतने जतन काहे को किए अपने जान जान नन नंदन अपने जान जान नंद नंदन बहुत भयन सो राख लिए अघबक वृषभ वक्ष बंधन तय व्याल जीति दावा विपिय इंद्रमान में जो गिर कर धरी छिन छिन प्रति आनंद दिए हर बिछुरन की पीर न जाने हर बिछुरन की पीर न जाने बचन माने हम बाद जिए सूरदास अब वालालन बिन कान सहत या कठिन ही सूरदास अब वालन बिन कान सहत या कठिन सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी अपने जन समझकर नंद नंदन ने बहुत से भयों से हमारी रक्षा की किंतु जब अंत में त्यागना ही था तो हमारी रक्षा के लिए इतने प्रयत्न उन्होंने किस लिए किए अघासुर बकासुर वृषभासुर वृत्सासुर तथा वरुण पास से बचाया यही नहीं उन्होंने कालिया नाग को जीता दावाग्नि का पान किया हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाकर इंद्र का अभिमान दूर किया और इस प्रकार प्रत्येक क्षण हमें आनंद दिया किंतु श्याम सुंदर के वियोग की पीड़ा उस समय अपने हमने समझी नहीं और उनके लौटने की बात मान हम व्यर्थ जीती रही अब उन्हीं लालन के बिना यह हमारा कठिन हृदय क्या कष्ट नहीं सहता मिल बिछुरन की बेदन न्यारी मिल बिछुरन की बेदन न्यारी जाह लगे सोई पे जाने बिरह पीरयति भारी जब यह रचना रची विधा लगही क्यों न संहारी सूरदास प्रभु काहे जीवाई जन्मत ही किन मारी मिल बिचुरन की बेधन न्यारी सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी मिलकर बिछुड़ने की वेदना अलग ही बहुत दारुण हुआ करती है यह वियोग की अत्यंत दारुण पीड़ा जिसे लगती होती है वही उसे जानता है जब ब्रह्मा ने यह वियोग की रचना रची बनाई थी तभी उसका कोई प्रतिकार क्यों नहीं निश्चित किया और हमारे स्वामी ने हमें जीवन दान क्यों दिया जन्मते ही मार क्यों नहीं डाला बिछुरे श्याम बहुत दुख पायो बिछुरे श्याम बहुत दुख पायो दीन दीन पीर होती अति गाढ़ी पल पल बरस बिहायो व्याकुल भय सकल ब्रज बनिता नैका न पायो सूरदास प्रभु तुम्हर मिलन को नयनन यति झर लायो सूरदास प्रभु तुम्हर मिलन को नैनन यति झर लायो सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सकी श्याम सुंदर से वियोग होने के कारण मैंने बहुत दुख पाया दिनों दिन उसकी पीड़ा अत्यंत असह्य होती जाती है जिससे प्रत्येक पल वर्ष के समान व्यतीत होता है हम सब ब्रज की नारियां व्याकुल हो गई किंतु उनका तनिक भी संदेश नहीं मिला स्वामी तुमसे मिलने के लिए हमारे नेत्रों ने अश्रुओं की प्रबल झड़ी लगा दी है यह कुमया जो तब ही करते यह कुमया जो तब ही करते तो इन पैकत जियत या जुलो गोकुल लोग उबरते केसी त्रिनाम तब सभासुर कहो कान कौन विधि मरते व्योम प्रलम्ब ब्याल दावानल हरि बिन कौन बितरते शंख चूर बक बकी यखासुर वरुण इंद्र क्यों टरते सूर श्याम तो घोष कहाँ जो इति ठुरई धरते हैं जो इति निठुरई धरते सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी वे मनमोहन यदि यह निष्ठुरता प्रारंभ से करते तो कहो ये गोकुल के लोग आज तक कैसे जीते बचे रहते केसी त्रिनावर्त विश्वासुर आदि किस प्रकार मरते और व्योमासुर प्रणम्बासुर कालियानाग तथा दावानल से श्याम सुंदर के बिना गोकुल को कौन बचाता शंखचूर्ण बकासुर पूतना अघासुर वरुण तथा इंद्र कैसे ब्रज से हटते इसलिए यदि श्याम सुंदर इतनी निष्ठुरता पहले धारण कर लेते तो क्या यह ब्रज रहता हरि हम तब काहे को राखी जब सुर प्रति ब्रज ब्रोरन लीनो दियो क्यों गिरनाखी अब लो हमारी जग में चलती नई पुरानी साखी सो क्यों झूठी हो सकी रे गर्ग कथा जो भाषी तो हम कौ होती कत यह गति निस दिन बरसत आखी सूरदास यो भई फिरत जो मध दूहे की माखी मध दूहे की माखी सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर तुमने हमारी उस समय क्यों रक्षा की जब इंद्र व्रज को डुबाने लगा था हमारे ऊपर गिरिराज को उस समय क्यों नहीं पटक दिया जिससे अब तक संसार में हमारी नवीन एवं पुरातन यशोगाथा प्रचलित हो जाती कि गोपियां श्याम सुंदर की नित्य अनन्य प्रेमिका हैं उनसे नित्य अभिन्न हैं किंतु सखी गर्ग मुनि ने जो बात कही कि श्री कृष्ण वसुदेव पुत्र हैं वह कैसे झूठी हो सकती थी यदि यह बात हम पहले जान लेती तो हमारी यह दशा क्यों होती और क्यों हमारे नेत्र रात दिन वर्षा करते रहते अब हम उनके बिना इस प्रकार आश्रयहीन घूमती हैं जैसे शहद निकाल लेने पर शहद की मक्खियाँ